जैसे अनंत सच्चिदानंद घन समुद्र में सच्चिदानंद के उपादान से बना हुआ ही है और एक खड़ा हो भीतर सच्चिदानंद बाहर सच्चिदानंद गड़े की दीवार सच्चिदानंद पूर्ण कुंभ इवाम बने पूर्ण कुंभ इवार नवे आकाश में पूर्ण कुंभ हाँ, और समुद्र में आनंद गहन अमृत में पूर्ण कुंभ अब आप देखो चाहे जहां आपकी मर्जी हो तुलसी के पौधे को परमेश्वर समझो अपनी बुद्धि को परमेश्वर बनाना है तुलसी के पौधे को परमेश्वर बनाना नहीं है आप लेबोरेटरी में तुलसी के पौधे की जांच मत कीजिए कि इसमें ईश्वर है कि नहीं आप देखिए आपकी बुद्धि उसको ईश्वर मानती है ईश्वर समझती है कि नहीं समझती है एक पुस्तक में भैंस के दान की महिमा लिखी थी हो संस्कृत की पुस्तक धर्मशास्त्र है आपको देखना हो तो हम नाम भी बता देते हैं चतुर्वर्ग चिंतामणि हिमाद्री बोलते हैं उसको हिमाद्री धर्मशास्त्र का बड़ा उत्तम कोटि का ग्रंथ माना जाता है हिमाद्री उसका नाम चतुर्वर्ग चिंतामणि है और कर्ता हिमाद्री है उसमें सैनिक दान का महात्म्य है तो महाराज एक धर्मात्मा ने पढ़ा उसने कहा कि ये तो अशुद्ध है सुरभ दान का महात्म्य होगा शैरिव दान का महात्म्य कैसे होगा सुरभि माने कहा सुरभि दान का महात्म्य होगा और महाराज उन्होंने हमसे लिख के पूछा तब उनको बताना पड़ा कि ये शरीफ जो है ये भैंसा है भैंसा भैंस हाँ। क्योंकि जमराज का वाहन है भैंसा तो भैंस के भैंसा के दान से जमराज खुश होते हैं हाँ। शहरी मर्दिनी नियम आ लक्ष्मी सरोजस पिताम है ना शहरी माने आसुर शहरी माने महेश तो बात ध्यान में आनी चाहिए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा एक आदमी सोने की सुअर बना के ले आया बोले महाराज आपको हम भेंट करते हैं प्रयाग सुअर ले आया हाँ। बच्चे ने कहा बाबा देखो देखो देखो ये हमारा अपमान करने के लिए सुअर ले आया है देने को बाप ने कहा कि बेटा सोना है सोना ले ले बोला हाँ, ये सुअर नहीं है सोना है हाँ, हाँ। एक ने खाड़ का गड्ढा बनाया और बेटे को ला के देने लगा ओ बोले बेटा पिताजी क्या करते हो हमको गधा देते हो तुम गधा न हाथी न घोड़ा न गाय गधा देते हो बोले बेटा एक खाड़ है खार खाजा गधा मत दे तो वेदांत जो है आपके हृदय से राग द्वेश की आत्यंतिक निवृत्ति करने वाला है उसके संस्कार को मिटा देने वाला है हाँ, परिषद के वास्तव में ये प्रश्न उठाया है आखिर इस ज्ञान से होता क्या है क्या प्रयोजन है इस ज्ञान का हाँ, तो शंकराचार्य कहते हैं राग द्वेश की आत्यंतिक निवृत्ति ही इसका प्रयोजन है ये अच्छा है ये बुरा है ये उचित है तुम्हारे हृदय में राग द्वेष बना तब तक बना रहेगा जब तक भेद रहेगा इसलिए भेद का समूल समूल माने अज्ञान सहित अज्ञान सहित भेद का समुच्छेद करना ही ज्ञान का प्रयोजन है इससे राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति हो करके और जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख इसी जीवन में इसी जीवन में मिलता है तो आप लोग पूर्ण की बात तो पढ़ते ही हैं एक विकार बना रह, लगा रखा है शायद चेन्नई मिशन का है तो बजा देते हैं ये हमारे विमलानंद जी का ही कभी बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है पूर्ण मदा पूर्ण मदा आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा पढ़ा होगा पूर्ण मदा ऐसे पूर्ण मिलम पूर्णात पूर्ण मुदक्ष्य पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वह पूर्ण है यह पूर्ण है अदम माने वह और एकदम माने यह अच्छा देखो अब इसमें आप ध्यान देना हो किताब में अर्थ पढ़ा हो सो छोड़ देना अदह अलग है और इदम अलग है और पूर्णम एक है अगा माने परोक्ष एदम माने प्रत्यक्ष अगा माने वह एदम माने यह हाँ, तो वह और यह तो अलग अलग होता है यह हुआ संसार और पूर्णम पूर्णम जो है वो एक उसमें अदा और इदम का भेद नहीं है अगर आप किताब में कोई अर्थ पढ़ के आए हों तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णात पंचम्यंत पद है और पूर्णम प्रथमांत पद है बोला पूर्ण से पूर्ण उदय होता है उद्रिक्त होता है लहराता है पूर्व से जैसे समुद्र में उद्र जो है ना समुद्र में उद्र कोई उद्रिच्यते है हो पूर्णात पूर्णम उदच्यते उदंचित होता है उदंचित अब देखो एक पूर्ण है पंचम्यंत और एक पूर्ण है प्रथमांत पूर्ण से पूर्ण उदित हुआ तो प्रथमा पंचम्यंत और प्रथमांत में पंचमी विभक्ति का त और पूर्णम का नपुंसक होने से माँ हो ये विभक्ति दोनों गलत है बोला विभक्ति दोनों अलग हैं पूर्ण से पूर्ण निकला जानते हो इसमें निकलने वाला प्रथमांत में जो प्रथमा विभक्ति है और जिससे निकला उसमें जो पंचमी विभक्ति है ये दोनों अलग अलग हैं माने विभक्तियां अलग हैं प्रत्यय अलग है और पूर्णम एक है कभी हाँ, आप हाँ, वेदांत का विचार करें तो मजेदार है मिठाई खाने में उतना मजा नहीं है वो जितना वेदांत के स्वादन में ये तो अमृत है अमृत अच्छा देखो इसमें है क्या पूर्णात पूर्णम पूर्णात हुआ कारण और पूर्णम उदच्यते हुआ कार्य पहले परोक्ष और प्रत्यक्ष का बाध करके एक पूर्ण बताया अब दूसरे में कार्य और कारण का वाद करके पूर्व को एक बताते हैं एक से पैदा हुआ और एक है दोनों का नाम है पूर्ण तो बोले भाई दोनों में कुछ भेद है कहाँ है एक है अनुत्पन्न पूर्णार्थ जो है वो है अनुत्पन्न पहले से मौजूद है और पूर्णा मुदच्य से दूसरा पीछे से पैदा हुआ तो उस अकाल पूर्ण में ये कालिक जो पूर्ण है हाँ, ये उससे जुदा नहीं है कारण पूर्ण से कार्य पूर्ण जुदा नहीं है आकाश से आकाश पैदा हुआ कुछ नहीं हाँ, घड़ा फूट गया मिट्टी में मिल गया उन्हें एक वो जो फूट गया और एक वो जिसमें मिल गया तो जो फूट गया वो बना हुआ था देखो तो उत्पत्ति क्रम से बताया पूर्णा पूर्ण मुदच्चत है और प्रलय क्रम से बताया पूर्ण से मादाय कार्य की पूर्णता कारण की पूर्णता से पृथक नहीं है कारण की पूर्णता से कार्य की पूर्णता पृथक नहीं है ये पहली बात और कार्य की पूर्णता जो है वो कारण की पूर्णता से पृथक नहीं है ये दूसरे ढंग से बात कही गई तो वह और यह और कारण और कार्य और कार्य और कारण ये सब नहीं है क्या का तो पूर्णम पूर्णमेवावशिष्य है सकैत मुख्यतम सभी ननु तर्क कहतम आओ तर्क की कसौटी पर करते हैं सत्य से सत्य उत्पन्न हुआ सब द्वैतवादी लोग बोलते हो सत्य परमेश्वर है उससे सत्य जगत की उत्पत्ति हुई अच्छा बाबू ये बताओ कि एक सत्य तो बाद में पैदा हुआ और एक सत्य पहले से था तो दोनों में कुछ फर्क हुआ कि नहीं हुआ तो भाई यदि पहले सत्य से दूसरा सत्य अलग हो गया तब तो मिथ्या हो गया बाधित हो गया और यदि पहला ही सत्य दूसरा सत्य भी रहा तो पहला और दूसरा ये कल्पित हुआ पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य तो प्रत्यक्ष और परोक्ष पूर्ण मद पूर्ण मदम प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नहीं है पूर्ण ही है अतः और एकम बाधित है और पूर्ण एक है सब सबाह्याभ्यंतरों यजा बाहर भी वही भीतर भी वही ये मंत्र तो आपको याद ही है सब आजाद अंतर हो जाएगा अच्छा ये मंत्र भी आपको भी याद होगा यदि हास्ती तदम उत्तर इसमें पहले अदह और बाद में इदम है और यदि हास्ती तदम उत्तर में पहले इदम है और पीछे अदा है यदि हास्ती तदमुत्र यदमुत्र तदन्वेह जो यहाँ है वही वहाँ है जो वहाँ है वही यहाँ है जबकि सब मजहबों ने यहाँ और वहाँ को अलग अलग बनाया है है कि नहीं धर्मात्माओं ने धरती और स्वर्ग को अलग किया उपासकों ने उपासकों ने धरती और बैकुंठ को अलग किया प्राकृत और अप्राकृत कर दिया हो और जोगियों ने विक्षेप और समाधि को अलग अलग किया और ईसाई मुसलमानों ने साकार और निराकार को अलग अलग कर दिया साकार को तोड़ दो आज समाजियों ने साकार और निराकार को याद किया अलग अलग किया पूर्ण पूर्ण पूर्णमिदम परोक्ष भी पूर्ण है प्रत्यक्ष भी पूर्ण है हाँ। इसका अर्थ है प्रत्यक्षता और परोक्षता का विभाग मिथ्या है अशुद्ध है और पूर्णता सत्य है पूर्णा पूर्ण मुदच्य थे पूर्णात अनुत्पन्नात पूर्णम हाँ, उदच्यते उत्पद्यते उदृच्यते एक उदृत पूर्ण है और एक वस्तु पूर्ण है माने पंचमी और प्रथमा बिल्कुल व्यर्थ है पूर्ण और पूर्ण एक है वहाँ पंचमी और प्रथमा के प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं है एकता के प्रतिपादन में तात्पर्य है पूर्ण से प्रलीन से अङ्गुणम् आदाय घनता आदाय ये नाम रूपात्मक जो पूर्ण है इसमें जो वस्तु तत्व है उस पूर्णता को लेकर अवशिष्यते अबाध्य रूप से अवशिष्यते माने बाधा अवधि बाधावधि के अधिष्ठान रूप से प्रकाशक रूप से अच्छा भाई तो अब देखो पूर्ण ये सनातन धर्म की ये निगूढ़ निगूढ़ अवगति है ये सनातन धर्म के पूर्ण वो ईश्वर अधूरा है जो निराकार ही रहता है साकार नहीं होता वो ईश्वर अधूरा है जो साकार ही रहता है निराकार नहीं होता वो ईश्वर अधूरा है जो बैकुंठ में नहीं रहता बैकुंठ में ही रहता है धरती पर नहीं रहता और वो ईश्वर भी अधूरा है जो धरती पर ही रहता है बैकुंठ में नहीं होता हाँ, वो ईश्वर अधूरा है जो गोल ही गोल रहता है सालग्राम की बटिया लंबा हाँ, शिवलिंग नहीं हो बनता हाँ, जो पूर्ण रूप ही पुरुष रूप ही रहता है स्त्री रूप नहीं होता वो भी अधूरा है शक्ति भी है हाँ, शक्ति भी है शक्तिमान भी है तो जो हाथी की शक्ल में रहे और आदमी की शक्ल में न रहे वो भी अधूरा है और आदमी की शक्ल में रहे हाथी की शक्ल में न रहे वो भी अधूरा है जो आकृति के रूप में रहे और प्रकाशक सूर्य के रूप में न हो तो वो भी अधूरा है ये सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य है सिर की भी पूजा नहीं होती पांव की भी पूजा होती है बोला अरे वो आकृति का हम नाम खुला खुला नहीं लेना चाहते हैं तो बिल्कुल खुला खुला नंगा करके वर्णन कर सकते हैं यदि परमेश्वर सर्वस्वरूप न हो ये सर्व परमेश्वर ही न हो तो आपके चित्त से राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी हमेशा के लिए राग द्वेष नहीं मिटेंगे भेद बुद्धि बनी रहेगी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा सनातन धर्म जगन्नाथपुरी में झूठा खिलाता है गाय का मूत्र पिला करके पवित्र करता है आपके ध्यान में है सनातन धर्म का रहस्य बड़ा निगूढ़ बड़ा निगूढ़ ये है ये नहीं आप करते रहो राजा द्वेश हाँ तो लोग कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलते इसका विपरीत कारण है आपके हृदय का निर्माण करने के लिए आपके हृदय को परमेश्वराकार करने के लिए आपको एक आलंबन चाहिए आप सब पुरुषों को परमेश्वर मत समझो पहले अपने पति को परमेश्वर समझो ये हुआ धर्म आप सब संतों को परमेश्वर मत समझो पहले अपने गुरु को तो परमेश्वर समझ लो आप सब मूर्तियों को परमेश्वर मत समझो पहले अपने इष्टदेव को परमेश्वर समझ लो ये सनातन धर्म तो आपके हृदय की शकल वो बदल देगा रासायनिक परिणाम हो जाएगा आपके हृदय में और फिर आप जहाँ देखेंगे जहाँ देखता हूँ वहाँ ही तू है ये देखो श्याम ये देखो श्याम श्याम ही श्याम वर्षों से गीत गोविंद सुनाने का मन है वो हमारा काम है हाँ, प्रेम की कथा सुनाओ सायंकाल प्रातः काल तो ये चलते ही है सायकाल जरा हाँ, हाँ, जरा प्रेम का रस लेंगे गीत गोविंद तदबल्लभ श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि आप अपने चरण कमल को मेरे सिर पर रख दीजिए देह तदबल्लभ मधारम मम शिसी मंडनम स्मर गरल खंडनम वो मेरे सिर का आभूषण है वो मेरे हृदय में उठने वाली काम वासनाओं को टुकड़े टुकड़े करने वाला है वे पद पल्लव मुदारम अरे कहा भगवान कृष्ण कहा महापुरुष कहाँ अवतार और कहाँ ऐसे बोलते हैं बस यदि आपको कहीं भी सनातन धर्म में असंगति मालूम पड़ती है वो आपके ज्ञान में असंगति है आपकी बुद्धि में असंगति है आपके अनुभव में असंगति है और सनातन धर्म में असंगति नहीं है हम तो बहुत कट्टर हो लकीर के फकीर जैसे होते हैं ना ऐसे हैं वैसे हम लकीर के फकीर हम लोग इसमें गौरव पहले समझते थे एक किस सन की बात है ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ था काशी में बड़ा भारी सारे देश के संस्कृत के प्रचंड पंडित इकट्ठे हुए थे संबत चौरासी पचासी की बात है बोला पचास वर्ष पहले तो हम अपने को गौरवशाली समझते थे इस बात का कि हम अक्षर पंक्ति मात्र निष्ठ हैं मतलब शास्त्रों के एक एक अक्षर और एक एक पंक्ति में निष्ठा रखने वाले हैं हाँ। ये उस समय की बचपन की बात है आ, हाँ, लेकिन उस समय हम इसमें अपने को गौरवान्वित गौरवशाली समझते थे तो आप केवल क्यों देते हैं आप उसको समर्थन की दृष्टि से उसमें रहस्य क्या है निवर्तक है कि नहीं आप देखो एक पति को परमेश्वर माना मानना अन्य पुरुष के प्रेम का निवर्तक है कि नहीं और एक गुरु में निष्ठावान होना जने जने जने जो गुरु बनते हैं उनके झगड़ों से अलग होना है कि नहीं एक रूप को परमेश्वर मानना अपने चित्त को संकल्प की चंचलता को मिटाना है कि नहीं है हाँ। एक से व्याह कर लेना वासना का संकोचक है कि नहीं है सिद्धम तू निर्वर्धकम आप क्यों नहीं इस दृष्टि से तो देखो जो जहां निष्ठावान है उसको अपने गुरु में अपने इष्ट में अपने मंत्र में आ, हाँ, अपने संप्रदाय में पूर्ण बुद्धि करके पूर्ण यही पूर्ण है आ, हाँ। अहंता विमर्श अपनी जो अहंता है उसकी पूर्णता का विमर्श कीजिए वह पूर्ण है यह अपूर्ण है बनाना है लिखाना है अपनी अहंता की पूर्णता का अनुभव कीजिए देखिए वासुदेव सर्वाम हमको <clears throat> याद है वो एक बार हरिद्वार में कुंभ हुआ था तो उस समय हम सन्यासी नहीं हुए थे जब तो हर साल तो जयदयाल गोयनका का सत्संग स्वर्गाश्रम में होता था उस साल हुआ कर्णवास में क्योंकि वहां बड़ी भीड़ थी कुंभ की तो सत्संग का स्थान बदल दिया गया था वहाँ रहते थे श्री हुए बाबा जी महाराज कर्णवास में तो दिन भर तो शेष आदमी के व्याख्यान व्याख्यान हुआ करते रहे सायंकाल बाबा और जंगल में होके गंगा किनारे बालू में एकांत की तरफ चले जाते पांच दस बीस पचास आदमी के साथ हो जाते एक दिन वहां जाके सूर्यास्त के समय गंगा तट पर बैठे हुए थे हमको बुलाया संतनों मेरा नाम संतन तो उठाओ वैसे शांतनु बोलते थे हम भी लिखते भी थे हाँ। तो संतनोती से संतनु बनता है वो तो है ही है ठीक है वो तो महाभारत में व्याकरण वो भागवत में सर्वत्र है शांतम नौती से भी शांतनु बनता है शांतम संतम सत्पुरुषम नवती प्रणमति जो सत्पुरुषों को नमन करे उसका नाम होता है नवती स्तौती नवती प्रणमति बाबा हमको शांतनु कह के पुकारते थे बोले शांतनु कहा महाराज दोनों हाथ से बालू उठाया हो बालू बालू नहीं देखे थे कोई आसन वासन की जरूरत नहीं पड़ती थी ना हम लोगों को न उनको दोनों हाथ से बालू उठाया तो देख जब तक ये ब्रह्म है ऐसा न मालूम पड़े जब तक बालू के कण में और ब्रह्म में भेद है ऐसा मालूम पड़े जब तक ये बालू ब्रह्म न मालूम पड़े तब तक समझना ब्रह्म ज्ञान अधूरा है ब्रह्म ज्ञान गाली देने के लिए नहीं होता है खंडन तो अपना ही हो जाता है कि हम पूरे नहीं है हम परिपूर्ण नहीं है जिसको गाली देते हैं वो हम नहीं है ना है? जिसको बुरा समझते हैं वो हम है नहीं ना जिसकी निंदा करते हैं वो हम नहीं है ना क्या पूरा है बहूनाम जन्मनामंत ज्ञानवान माम प्रपद्यत वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा बहुत जन्मों के बाद ये अनुभव होता है वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते सब परमात्मा का स्वरूप है अब हम हाँ, कासों बैर करूं दीप देखा तिप सावरी सूरत किससे वैर किसका द्वेश किसका खंडन मतवादिन सौ अरब यही हमारे बनारस में कहे काष्ट देवदास स्वामी हाँ बड़े भारी महात्मा थे वो तो जीव ने लकड़ी लगा ली उन्होंने बीज छेद के उसमें एक लकड़ी लगा दी बोलेंगे भी नहीं अब वो पहले ऐसा कर लिया होगा उन्होंने तो बाद में उन्होंने हाथ से पद लिखे हैं जीप से नहीं बोले तो हाथ से बोले तो बोले एक ही बात तो एक ही बोलना तो जो भी कर्मेंद्रीय है और हाथ भी एक पांव हिलाते थे सारा शरीर हिलाते थे और मैंने कहा बाबा दो तोले की जीप में हिला के हैं पांच पेड़ का सिर क्यों हिलाते हो तो, हम भी मौन रहे हो एक आध बरस तो हम भी मौन रहे हैं तो, क्या लिखा है उन्होंने मत बाजन सौ अरज यही अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो कि नहीं जो तुम व्यापक न मानत जीव दशा कहाँ आए रहे तुम्हारा इष्ट देव पूर्ण है कि नहीं तुम्हारा मंत्र पूर्ण है कि नहीं तुम्हारा आत्मा पूर्ण है कि नहीं पूर्णमदः पूर्ण पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्ण पूर्णमादः पूर्ण अवशिष्य हमारे मौका तोड़ के बाबा से पूछा किसी ने तुम कौन हो बाबा तो बोले मैं खटमल हूँ मैं मच्छर हूँ मैं मक्खी हूँ चाहे जिस नाम में चाहे जिस रूप में मैं फूल रहा हो वो मैं मैं ही हूँ पूर्ण मनुष्य आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक निश्चित क्रिया

the अपनी तार का पता रजिस्टर करा के रखते हैं भाई वैसे ये भगवान का और रजिस्टर्ड पता है नारायण जो कुछ कहना हो सो नारायण से कह दो अपना मन ही और उधर जाता है नारायण तो भरपूर रहता है एक महात्मा थे तो मैंने उनसे पूछा कि पूर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है पूर्ण तो बोले कि ठसा ठस ये है गांव का ऐसा था ठोस जिसमें दूसरी वस्तु घुसे नहीं और जो दूसरी वस्तु में घुसे नहीं निर्माण हो और उसके भीतर सुई की नोक घुसने की भी जगह नहीं हो ऐसी जो खसाखस चेतन तत्व है ठोस उसको बोलते हैं पूर्ण पूर्ण होगा तो उसको सत्य तो कह सकते हैं लेकिन उसकी पूर्णता किसी को मालूम पड़नी चाहिए तो जिसको मालूम पड़ेगी उसको चेतन कहेंगे तो दो हो जाएंगे एक पूर्णता और एक जिसको मालूम पड़ते हो सो तो पूर्णता यदि गेह होगी जानी जाएगी तो जड़ होगी और यदि जानने वाला ही पूर्ण होगा तो पूर्णता चेतन होगी पूर्णता चेतन तभी होगी जब अपना आत्मा ही पूर्ण होगा और यदि इस आत्मा के सिवाय दूसरा कोई पूर्ण होगा तो एक तो वो पूर्ण नहीं होगा क्योंकि एक मैं एक हो और दूसरे जड़ होगा यदि दृश्य है तो और यदि परोक्ष है तो कल्पित होगा अकल्पित सत्य ही नहीं होगी हमारे जो दृष्टि सृष्टिवादी हैं वो अज्ञात अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते अज्ञात वस्तु को ही स्वीकार नहीं करते हो तो अब आप कहोगे कि क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं तो जब उन्होंने कहा सुना कि मैं ब्रह्मसूत्र पर भी लोगों के बीच में प्रवचन कर देता हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम इतने लोगों के बीच में ब्रह्मसूत्र पर प्रवचन कैसे करते हो लोग क्या समझते हैं फिर मैंने ये ब्रह्मसूत्र प्रवचन जो छपा है ना ये उनको दे तो वो दो ही तीन दिन में पूरा का पूरा पढ़ गए एक भाग पूरा का पूरा पढ़ गए फिर दूसरा छपा तो दूसरा दिया तीसरा दिया तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि दर्शन शास्त्र की वेदांत शास्त्र की बात दो चार सौ पांच सौ आदमियों के बीच में बोलना उसमें एक तो महिमा आप लोगों की है वो क्या है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारी बात समझ में आवे कि नहीं आवे बैठ के सुनते हैं ना तो इसके लिए तो मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूँ आभारी हूँ पर थोड़ी सी समझने की भी कोशिश यदि करते जाएंगे तो आपके लिए मंगल ही मंगल है आपके जीवन में जो दुख है वो सौ में निन्यानवे दुख मन के द्वारा कल्पित है यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ से ही निन्यानबे प्रतिशत दुख मिट जाएंगे और एक प्रतिशत दुख जो है बाकी रह जाएगा वो आत्मानुभूति से मिटेगा जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा तब तक वो जरा सा रह जाएगा केवल जरा सा हो लगा रह जाएगा और तो बाकी सब आपके मन की मन की बात है आप अभी सुख सुखी हो लो या अभी दुखी हो लो किसी से प्रेम कर बैठेंगे तो विरह का दुख होगा कि नहीं होगा तो आप पहले से ही समझ लीजिए कि परदेशी के प्रेम में नहीं फंसना चाहिए दो तीन बरस की बात है दो बरस की बात है वो आके जार गुजार हो गए उधर कहीं होती है उस नगर में तो, तो कृपा करो कृपा करो कृपा करो अब मैंने पूछा तेरा दुख क्या है सो तो बता बोले एक पुरुष से मेरा प्रेम था सो अब वो मुझे छोड़ रहा है नहीं मानता है तो मैंने पूछा क्या बात है तो वो बोले कि उसका ब्याह हुआ है उसके बच्चे हैं है? तो बोले भाई जब तुमने ब्याह वाले और बच्चे वाले से प्रेम किया तो बेचारा अपनी पत्नी को अपने बच्चों को संभालेगा कि तुम्हारे प्रेम को संभालेगा गलती तो तुम्हारी है, है? उस पुरुष की कोई गलती नहीं है गलती तो तुम्हारी है जब तुम ऐसी चीज से प्रेम करते हो आग में हाथ डालोगे और कहोगे हाय हाय ये तो जलाती है ये तो आग का दोष नहीं है वो एक बात आपको और सुना है आपके ध्यान में फिर से आ जाए इसको वैष्णव शास्त्र में ब्रह्मास्त्र न्याय बोल रहे हैं इसका नाम है ब्रह्मास्त्र न्याय जब लंका में हनुमान जी गए और मेघनाथ से हनुमान जी की लड़ाई हुई वो मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र था उसने हनुमान जी पर छोड़ दिया वैसे तो हनुमान जी को वरदान था कि उनको ब्रह्मास्त्र भी नहीं लगेगा वेदांत ब्रह्मास्त्र है वो ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान जी नहीं मरेंगे ये वरदान था उनको कर दिया कर चला दिया ब्रह्मास्त्र तो हनुमान जी ने कहा कि देखो ये ब्रह्मास्त्र है इसकी इज्जत हम नहीं करेंगे आदर नहीं करेंगे तो अपमान होगा बड़ों का अपमान होगा जब उन्होंने स्वीकार कर लिया और ब्रह्मास्त्र उनको लगा बेहोश होकर गिर पड़े इतने में सब राक्षस इकट्ठे हुए उन्होंने मेघनाथ को सलाह दी तो देखो तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ये बानर बड़ा ताकतवर है शक्तिशाली है कहीं ये ब्रह्मास्त्र को हटा के और फिर उठ न जाए तब हाँ, रस्सी मंगवाई उन लोगों ने गांव में से बोले कि अब इसका हाथ पांव सब बांध दो जब रस्सी से हाथ पांव हनुमान जी का बांधा गया तो ब्रह्मास्त्र ने कहा कि बाबा इनका मेरे ऊपर तो विश्वास नहीं है इन राक्षसों का और रस्सी पर विश्वास है जब वो ब्रह्मास्त्र तोड़ देगा तो रस्सी से कब रुकेगा है? तो उसने हनुमान जी को नमस्कार किया ब्रह्मास्त्र ने और वो चला गया तब तो हनुमान जी ने ली अंगड़ाई और अंगड़ाई लेते ही सब रस्सी टूट के गिर पड़े तो वैष्णव शास्त्र में इसका वर्णन है कि ईश्वर की शरण में होकर भगवान की शरण में होकर भगवान का ज्ञान प्राप्त करके भगवत तत्व का अनुभव प्राप्त करके यदि आप छोटी का आश्रय ग्रहण करोगे भूत की पूजा प्रेत की पूजा फिर मसान की पूजा फिर पितर की पूजा तो वो जो बड़ा है ना उसका आश्रय टूट जाता है सबसे बड़ी चीज है ये ब्रह्मास्त्र खंड खंड खाद्य में एक